भागवत कथा का अमृत पान हम कर रहे हैं ये वो अमृत कथाएं हैं जिनसे कभी हमारे पूर्वजों के बचपन ढलते थे पवित्र होते थे और उनके जीवन उद्देश्यपूर्ण होते थे आज तो हम जी रहे हैं बस जीने के लिए ये ये कहें जी रहे हैं जो तो जी सकते हैं फिर मौत चले गए और जो बटोरा है वो सब यहाँ रह गया ये लौटेंगे भी तो नए सिरे से फिर शुरुआत होगी अक्षर ज्ञान की भी ज्ञान विज्ञान की भी भौतिक ज्ञान ना के रूप में पिछला कुछ महाराज परीक्षित को भी तक्षक सात दिन में आठवां दिन नहीं होता सात दिन में हम सबको जाना है ये मनुष्य की युवाएं परीक्षा की घड़ी है हम सब परीक्षित हैं परीक्षा में बैठे हैं परीक्षार्थी हैं और हम सबको परीक्षित होना है जो पास होगा वो अनंत की राह जाएगा जो फेल होगा फिर चौरासी लाख योनियों के अध्याय पड़ेगा ये सही योनियों और यूं ये खेल चलते रहेंगे हमारा महाराज परीक्षित बतलाते हैं कि राजन कोई भी व्यक्ति अपने घर को खोने से पहले एक नया घर बना लेता है कहाँ रहेगा तो भक्त भी अपना एक नया ज्योतियों का घर बनाते हैं इस घर से तो जाना ही बेघर नहीं तो जब इस घर से बेघर होंगे तो कोई घर तो होगा तो वो भी हो भक्ति की ज्योतियों से तैयार एक घर बना भक्ति का अर्थ ईश्वर से कुछ पाने का लोभ अथवा लालच नहीं जो जो सत्यनिष्ठ है जो जानते हैं कि हम जो भी बटोर रहे हैं कुछ साथ नहीं जाएगा इस घर से मुझे निकलना है तो अगले घर का इंतजाम करते हैं कल्पना कीजिए कि आपका मकान है आप किसी मुश्किल में फंस गए हैं आपको देखना पड़ेगा तो किराए का या जैसा भी आप पहले घर में इन्होंने बाल बच्चों के साथ घर गृहस्थी के साथ कहा रहे फुटपाथ से तो रह नहीं सकते इस घर से बेघर होते ही कोई तो घर चाहिए तो भक्त समझदार है वो घर खोजता है अज्ञानी जन जीवन के क्षणों को क्या टाइम पास कर रहे हैं स्वामी जी ये समय पास करने के लिए नहीं ये तो जा ही रहा इस समय को एक अमूल्य धरोहर में अगले घर में बदल सको यही तुम्हारी योग्यता होगी <coughs> उसी को हमने वेद की ऋचाओं में भी लिया है पहले वेद से ही ले लें फिर भगवान वासुदेव की कथा में आज प्रवेश करें हाँ पिछले रविवार के ऋचा से आरंभ करते हैं पिछले ऋचा कर लें कहा अबुझान राजा वरुणों वनसूर ऊर्धवम स्तूपम दधते पूत दक्षा नीचीना चीना स्थलो बुध येषाम अस्मे अंतर्निहिताः केतवाः शिव और इससे पहले कहा नहीं के क्षत्रम न सर न मनु न वयस न मे पश्यंता क्या याद नहीं है हमें नहीं को छत्रम अब कोई भी छत्र नहीं कोई राज नहीं कोई साम्राज्य नहीं है हमारा ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है न सहो और कोई बल भी नहीं है जब आखिरी सांस टूट जाती है तो मेरी क्या है कहा नहीं को छत्र आज छत्र भी मैं फलाना हूं मेरा ये घर है मेरा ये मान है मेरा ये सम्मान है आज वो सारे छत्र भी रह गए नहीं छत्र न सहो न बन आज पलक भी तो नहीं हिला सकता समझ न ऊर्जा है न चेष्टा है वह और ना वह समर्थ है यौवन है शक्ति है ना ना आता है ना पता है लोग अब मुझको लेटा हुआ देख के नहीं कहते फलाना लेटा है बोले फलाने की मट्टी है ये फलाना नहीं फलाने की मट्टी है ना का आपू जैसे जल छूटे सीधा धराशाही होता है आज धराशाही पड़ा और कितना अंधा था रोज एक कंधे पे अर्थी उठाता था और मुझे अपनी ही याद ना थी सिर्फ मूर्खताओं में समय को बर्बाद करता है उसी से नहीं जुड़ पाया विषयों से ही लिखता है कोई दूसरों के साथ दगा करे कोई दूसरा मेरे साथ धोखा करे बात समझ में आती है मैं तो अपना ही परम विश्वास घाटी बना बैठा अपने साथ ही ये सब कर रहा मेरा और आज सूख गया है जल अनिमिषम आंखों का अपलक भी छटकती नहीं है स्थिर है और जब तक छपक रही थी एक दिन ऐसा भी होगा मुझे याद नहीं चरण तो ही ना ये वापस और ये प्राणवायु भी अब नहीं चलती है सांसों की समाज अभाव और खंड खंड होकर के मैं धरती रहा आत्मा भी साथ छोड़ गया है और जब तक वो रहा मुझे उसी की याद नहीं युवा की शबरी का राम मेरे जूठन को रथ में बदल रहा मुझे हर सांस दे रहा मैं खाली भजन गा करके इस लाठी में निकलवाना था फलानों के काम करवा लेना था और याद नहीं था कि जब चला जाएगा तो तेरा क्या होगा और फिर क्या अब उधने राजा वरुण बोध से ही आखिरी झील तू पड़ा है शेर सागर से धरती पर आकर और फिर उस तेरे तन की मट्टी को वनस्पतियों ने उठाया है ऊर्धवन स्तूपन और फिर तू कोपलों में खड़ा हुआ है शरीर तेरा दबते ही पूत लक्षा जब धारण किया है जब दिया है ज्योतियों ने यज्ञ की ज्वालाओं ने उसे पवित्र किया है पूत माने पवित्र लक्ष्मण अग्निया आपकी अग्नियों ने पेड़ों के गर्भ में जब उसे यज्ञ किया है तो वन वनस्योर ऊर्धवम तो फिर वो वनस्पतियों में फिर मचीत से जमीन के भीतर से कुछ उभरा है ऊपर को ये चीज असंतम अवस्था को चले गए थे जो हम स्थिर ऊपर ही फिर ऊपर आए ऊपर आकर स्थित हुए बुद्ध बोध को प्राप्त हुए ये शाम इस प्रकार हम सब अंतर नहीं कहा उन पेड़ों में यज्ञ होकर तथा शरीर के भीतर में ही ब्रह्म ज्वालाओं में निहित होकर के तवा उन ज्योतियों के द्वारा होकर हम सम्मान को प्राप्त हुए अर्थात फिर से किसी जीव का रूप पाए मानव का तन पाए हमने दोबारा भस्मी से एक जीवंत धारा पाए धड़कने पाए और क्या हमें याद है कि हमें कैसे रहना है जीना कैसा वो आज के हाँ कहने लगे स्वामी जी हर बार मट्टी भी खाते हैं अरे भाई चारों वेद भी खाते हैं तो क्या दिखाएंगे और जो सच है वही तो बताएंगे वैसे तो आप बड़े तीरंदाज हैं बड़ी बिल्डिंगें बनाए हैं बड़ी कोठियाँ हैं आप <laughs> लेकिन वक्त बता देगा मुट्ठी भर मट्टी से तुम अच्छी तरह गए बिल्डिंगें वही हैं अचालिकाएँ वही खड़ी है लेकिन वहाँ तुम नहीं हो और वह तुम्हारी नहीं बैठा दम्भ था अंधे थे तुम और अंधता ये है तुमने बंद किया झुलतराश और फिर भी डर लगा कहीं अंधी आंख में ना रोशनी आ जाए तो गांधारी की पट्टियां तुमने और बांध ली अंधतम होकर इस जागृत योनि में जिए और आज की ऋचा है आज की ऋचा खोल कहा उरुण ही राजा वर्णश्चकार सूर्याय पंथान अनवेतवाह अपतिपादा प्रतिधातवे करिता अकरिता अपवक्ता हृदय विधस्थित कितनी सुंदर है कल्पना कीजिए कि आपके ही पूर्वज है बालपन में गुरुकुल में बैठे हैं घना जंगल है पेड़ों और वनस्पतियों से पिछली दिशा में आप पढ़ के आए तेरे बालक को लौटा करके और फिर वो आसमान दिखाते हैं विशेष वो ही चारों ओर फैलती है सर्वत्र कांतियां जिसकी जगमग होता है ज्योतियों का साम्राज्य जिसका वरुण वरुण कहते हैं वरुण देवता को वरुण जल के देवता को कहते हैं और क्षीर सागर अर्थात गगन का जो सागर है वस्तुता हमने उसे ही वरुण कहा क्षीर सागर है वरुण हाँ सकार और ज्योतियों का ये क्षीर सागर जो चारों ओर फैलता चलता है सूर्याय पंथान अनवीतवान उस सूरज को देखो आसमान में उसके पथ को देखो और कैसे ज्योतियां उसके मार्ग को बहारते चलती हैं अपरे पारा बिना कहने के चलता है प्रतिधातन हाँ और उड़ता हुआ चलता है और हम सबको धारण करता है अकर्ता अकर्तापन के भाव को प्राप्त होता अपवक्ता न कुछ बोलता हुआ हम सबके हृदय में वही तो स्थित है आत्मा होकर हमें भी तो उसका अनुसरण करना यहाँ ज्योतिर्वेद का जो सिद्धांत सूत्र है उसे जोड़ा यथ पिंडे है वही है सचराचर कारण जो संपूर्ण सचराचर में है वही सुख होकर तुमने समाया है जो तुमने नहीं है वो कहीं तो कहते जी जीना कैसे है उस सूरज अपने क्षीर सागर मेरे साथ क्षीर सागर जैसा क्षीर सागर तेरे भीतर है सारे ग्रह और नक्षत्र सूख होकर तुझने समाया है यार the carbon copy of the entire universe वो सबको बनाने वाला ईश्वर आत्मा होकर सूर्य होकर सूर्य में बैठा है और जैसे वो कर रहा है वैसे ही किसे भी तो करना है उससे हट के तुझे जब उससे हट के एक सांस उधरते नहीं कि तेरे पास अरे तो तूने जीने का साहस क्यों किया कि किया कैसे सीता को हम कोशिश करें तो एक काफे में भी ढाल सकते हैं हाँ बिनु पग चले हाँ बिनु पग चले उड़े दिन याद हाँ। सूरज कहीं पाँव से चलता है बोलो और ऊपर किसको उड़ा फेंक देता है बिना यान की चलता है बिनु पग चले उड़े दिन याद दिन मुख बोले सभी दिन का हाँ? हाँ, ऐसे भी तो कह सकते कि पग चले उड़े दोनों नाम मुख बोले सुनो दोनों कान बिनु आंखों के देखते जहान और बिना अग्नि के बड़े शमशान तप साधना का यही विधान यही रहा सूरज के पानी में फिर भी चलता है उसके पास वाहन नहीं है फिर भी उड़ता है वो बिना मुख से बोलता है बिना कान से सुनता है बिना आंखों से जो देखे उसे वो देखता है और बिना किसी लकड़ी के अग्नि के वो बहता हुआ शमशान के जैसा जलता है यही कथा है ये दिखावा नहीं जो आंख में देखे जो मुंह में बोले जो कान में सुन सके भक्ति उसी का नाम दिखावा भक्ति एक अभ्यास हो सकता है भक्त बनने का प्रयास हो सकता है भक्ति नहीं हो सकती है इस ऋषा में हमारे ऋषि सुनो से हमें बताया कि सूरज से बन के जीना है क्योंकि सूरज से बना है दोस्त बेटा वो जो पिता के से पतन जाए दूसरों की चौधराहट में जो आंख से दिखता है जो कान से सुनता है जो मुंह से बोलता है बस यही सब कुछ है जो मानते हैं ये कभी साधना की राह नहीं जा पाते साधना की मेरे भीतर गूंजती है शब्द होता है और उसके मुंह नहीं हर सांस वो रुकी चलती है और उसके पंख हैं दिन पैरों की चलती है और जमीन दर जमीन चलती है बिना पैर के और कोई यहां कोई दिया सलाई कोई लकड़ी कोई लपट नहीं होती और मेरा मन उसकी ज्योतियों में निरंतर एक दोनों में से बदलता रहता है तो भक्ति है तो पथ है तो साधना ये योग की गंगा है ये योग के महावाक्य है और हमने चाहा कि बस दुनिया में हमारा नाम शान हो जाए मकान दुकान में हो गया भक्त भी है ये भी हो जाए हाँ ना <laughs> ये भक्ति है ऋषि कह रहे हैं उरूम ही राजा अब तो ये भी क्या है हृदय में ज्योतियां बसी रहे हैं रहस्यता और क्षण सागर उसकी ज्योतियों का सागर उसके प्यार का सागर लहराता रहे सूर्याय सूर्य आत्मा भी है सूरज भी है सूर्याय पंथाम अनवेतवा आत्मा की उस राह का अन्वेषण करते रहे उसी का रास्ता खोजते रहे अपने पादा जब कहीं जहां न जा रहा हो न मन न बुद्धि न विचार न शरीर तब हम उसकी राह में चल रहे हैं प्रतिभा हो और हर सांस हर क्षण हम उसे धारण कर रहे हैं अकर्म कर्तापन के भाव से हीन होकर जो करता सो करता हम तो उसके निमित है करता वो अकर्ता हम श्रीमद भगवत गीता पढ़ाते हैं अब वक्त वही बोलता है वही सुनता है मैं कहता उसी में हृदय विधान से और हृदय में उसी को बसाए हुए हर सांस हर क्षण जिए तो तप है साधना है तो राह है तो भक्ति है और यदि संसार ही जी रहे हैं तो भक्ति कहा है भक्ति अति है खाली अगर माला फेरना भक्ति होती और उसके बाद सारे संसार के कपड़ बिना भक्ति होती तो मालूम है हम क्या कहते मुंह में राम बगल में अब तो एक सत्तावन सूर्य का क्या था है? हाँ? पैतालीस दिन ही छह जैसे लिए बड़ी जोर जोर से नारा भी लगाते हैं जय सिया राम बन गए काम मौज आ गई अक्सर कहते हैं कि स्वामी जी मजाक उड़ाते नहीं भाई हम नहीं उड़ाते हम तो वेद की बात बताते जो चाह रहे वेद कह रहे हैं और वेद जो धरती का दिलोया हुआ अमृत है वो तुम्हारी दिखावा ढोंग भक्ति में आशा कोई नहीं रखता वो कहता है कि दूसरों को दिखा रहे हैं न तो उन्हें भगवान देख रहा ना वो भगवान को देख रहे <laughs> बस दूसरे ही देख रहे उरो वही राजा वो मेरा रात मेरे मन बता रहे हर सांस उसमें झूमती जाए वो मांस उसका सदा होता है उसकी ज्योतियां आकार ले वो छू रहा है उसका स्पर्श का सुख मिल जा रहा है सूर्य पंथा उसकी जो राह है जिधर से वो गुजर गया है मैं उसी राह को खोजूं और उसी के तनों को उसी की भीड़ को चूंता उसी राह चलता है आप आपदेशादा मन को उसी में स्थिर करता हुआ उसी में चलता रहूं बिन पैरों को प्रतिधातवे जो जो वो लीलाओं में दिखा गया है मैं वही करता रहूं अकर्ता अकर्तापन के भाव से अपवक्ता वही जानता है वही बोलता है वही सुनता है हृदय विधास्थित और हृदय में उसी की विशिष्ट ज्योतियों को धारण किए रहो उसी ही रोम रोम में बताओ हाँ। आपने कहा स्वामी की कथा तो अच्छी सुना दी ऋचा लेकिन ये बताओ सास बहू का क्या होगा मकान दुकान का क्या होगा काम धंधे का क्या होगा हाँ, भाई तो फिर भक्ति नहीं होगी एक साल तो जीते मत लगाओ फिर भक्ति नहीं होगी तो <coughs> महाराज परीक्षित से कहते हैं कि भगवान इसीलिए लीला करते हैं सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं कि महाराज परीक्षित आपने जो कृष्ण की कथा सुनाने के लिए कहा हम बराबर बाकी कथाएं भागवत के लेके आ रहे तो उन्होंने नारायण ने भी जो लीला की थी इसलिए इस विचार को हर भक्त दोहरा सके उनके लक्ष्य कदम जा सके नहीं कि खाली भजन खा करके लड्डू खिला के और खा के बड़ी भक्ति हो गई <laughs> ना करता ना हम्म। कितने हजार लड्डू चढ़ते हैं यहाँ हाँ। पर खाता कोई नहीं हाँ, ये बात सही है तो कहा कि उसका अनुसरण करना भक्ति है न कि खाली भजन गाना भक्ति जो अनुसरण नहीं करते ये भक्त नहीं होते जिनके मन में संसार है संसार की अतृप्तियां और इच्छाएं हैं देश और कलुष है अभी तक भक्त नहीं बना उन्हें मान लेना चाहिए और प्रयास करें कि अब तो भक्त बन जाए क्योंकि वक्त इंतजार नहीं करता है आगे बढ़ना रुके नहीं रहे और बढ़ाना कैसे जो आज की ऋचा है आपने विवेक की ऋचा ब्लैक बोर्ड के लिए तो कहा राजन इसी के लिए नारायण लीला कहते हैं भगवान की लीला ज्ञान वैराग्य और भक्ति का ये त्रिधारा होती है कहा ज्ञान साबुन है वैराग्य जल की भांति है जब जब मन में मैल उठता है भक्त ज्ञान के साबुन से मांगता है मेरे क्यों गोविंद से अपना मांगता है ये पाप मत कर अगर क्षणिक हो गया तो तुरंत मिला और गोविंद मिला ज्ञान के साधन से आसक्ति और संसारिकता को न और वैराग्य के जल की धोखे के दिया तो भक्ति का अमृत रस फिर मिल जाएगा जिनके पास ज्ञान और वैराग्य नहीं है उनके पास भक्ति भी नहीं हो सकती ये कहना कि ये तीनों अलग है राजा ये भारी भूल है और ये हम शुरू की कथा में भक्ति की कथा में सुना है कि भक्ति के दो बेटे हैं भागवत में ज्ञान और कहा इसी सत्य को पुनः भक्त को राह देने के लिए अपने मार्ग पर लाने के लिए महाविष्णु कृष्ण रूप में अवतरित होकर लीला अवतार धारण करते तथा द्वापर युक्त द्वापर अपने समापन से कुछ पूर्व की कथा है सूर्य और असुर दोनों प्रकार के राजा हैं सूर्य राजा जो जीवन को धर्म पूर्वक जीना ज्ञान वैराग्य और भक्ति को ही सर्वोपरि मानकर प्राणी मात्र में प्रभु का दर्शन करते हुए सबको समर्पित अर्पित होकर जीना ये सुर विचारधारा है और असुर विचारधारा है वीर भोग्या वसुंधरा इसी <clears throat> प्रकार के साम्राज्य हैं उन्होंने महाराज कंस जो हैं महाराज उग्रसेन के बेटे हैं और बचपन में ही ये जरासंध के द्वारा उनके यहाँ साम्राज्य में असुर राज के ले जाए गए क्योंकि वो अपने दोनों बेटियों का विवाह करना चाहते थे राजन राजेंद्र हुए कि बिना स्वयंबर की शादी कैसे हो सकती है तो वो असुर थे उन्होंने कहा मैं तो बिना स्वयंबर के ही करूँगा हम लोग कैसे करते अरे बताओ ना <laughs> कैसे करते हैं <laughs> हाँ? क्योंकि दंड असुर है मैं जो चाहूंगा वही होगा और दम रही औलादों को भी दे जाते है आगे तू भी यही करे हाँ नहीं क्या बोले भले तेरी जिंदगी है चलेगी मेरे हुक्म तो असुर स्त्री को कोई सम्मान नहीं देता सुर उसे नवदुर्गा मानता है धर्म के अपने से ऊपर अधिकार देता है असुर उसे धर्म स्थान से जाना भी उसका वर्जित कर थे ये दोनों की संस्कृतियों का भेद और गुलामी के अंतरालों में हमारा भेद भी गया हम वो क्या कहते हैं धोबी के कुत्ते न घर के न घाट के असुर बन नहीं सके सुर रहे ना बाकी इससे सौ साल की गुलामी आज आप कहते हो स्वामी जी लड़के इज्जत नहीं करते तो मुझे बड़ा दुख लगता है तो गुलामी में आज इस देश की हर पीढ़ी जला करती अरे भाई बिल्कुल ग्रहस्थ उसके बाद तुरंत तुम लेते थे पर औलादों के सहारे जीता कौन था आज इतने का पुरुष कायर जिस दिन नपुंसक क्यों हो गए हो कि बुढ़ापे तो तक तुम्हारा आत्मा श्रीराम नहीं जगा है और अभी तुम्हें बाहर सहारे चाहिए मनुष्य की योनि में आए हो और बुढ़ापे तक मनुष्य नहीं बनता ये असुर के जन्म वरना क्यों तुम लिखते बैठे हो वहां क्यों लिखते बैठे एक युग था जब जहां भीतर लपट जाती थी तो बिना गृहस्थ से सीधा वानाप्रस्थ होकर सारे समाज की प्राणी मात्र की सेवाओं में उतर जाता था घर में कहा दिखता और फिर जीतने में न्यास हुआ बच्चे चाहे तो बन में आके मिल जाए हम में से कौन था जो लौट के जाता था और आज तुम कहते हो कि स्वामी जी बाहर कैसे जी पाएंगे मैंने कहा काश तुम जीना क्या है इसे पढ़ पाए होते उम्र तमाम गई और तुम यही जानना पाए और उस नपुंसकता को तुमने भक्ति पाया खाली पीढ़ियां ही देखी हैं हमने हम्म। दूसरे असुर संस्कृतियों में तो चिलम भर देता है बुद्धा सारे काम बुद्धा कर देता है बच्चे खिला लेता है सब्जी ला देता है तुम्हारी तो तहसीन हो जाएगी क्योंकि तो तुम असुर बुद्धे तो हो क्या, <laughs> क्या होगा बेचारे आज यही तो तुम्हारे जीवन की खटाक है कि खोल छूटा नहीं पंख उड़े नहीं उड़े कैसे दिल्ली खाएगी अब यही क्या अपनी अपने तुमने धर्मपुरा में भी गए श्लोकों को रट करके किताबें रट ली सारे ऋचाएं रट ली सारे कर्म कांड पर जाने और एक कागज के सौ बार तुम लिखो एक ही कागज फिर पढ़ के बताओ क्या लिखा इसलिए बताया नहीं आगे फिर लिखते चले गए कि जो पढ़ा वो और भटकाव बन गया क्योंकि एक अक्षर भी नहीं पढ़ पा रहे किसान की तरह एक बहुत गरीब किसान था बहुत गरीब था एक बार उसने युवराज को डूबते हुए राजा के बेटे को बचा लिया नदी में तो राजा ने बहुत प्रसन्न हो गया बहुत प्रसन्न हो गया कहा तुमने तो मेरे वंश को बचाया मान लो क्या मानो कहने लगा राजेश्वर जो आपकी कृपा हो करो लेकिन मैं जो मांगूंगा शायद आप दोगे ना कहा नहीं भाई मैं तो जो दूंगा दूंगा तुम बताओ तो क्या चाहता कहना मैं एक दिन आपके साथ बैठ के खाना चाहता हूँ खाना खाना चाहता हूँ बड़ी कड़क थी बहुत गरीब था कभी मिला तो खाया जो मिला तो पाया उसके मन में ललक थी एक बार राजा के साथ भी खाना खा के देखते कैसा होता है हाँ भाई तो राजा ने कहा रसोइये को बुलाकर कि भाई आज ऐसी रसोई बनाओ जो कभी ना बने आज मैं ऐसे सबसे उत्तम खाना खिलाना चाहता हूँ किसान भी बड़ा प्रसन्न क्या तो बहुत बढ़िया खाना भाई वाह जीवन धन्य हो गया हाँ? बहुत बढ़िया खाना बना एक से एक चीजें बनी अब हर खाया और जो राजा ने और उसको इनाम इनाम दिए दे के लौटा और सारे गांव को बताया आज मैंने तीन सौ रुपये का खाना एक ही बार ही खाया इतना बढ़िया खाना राजा के साथ बैठा मैं सुन रही मेरी बात ध्यान से सुन सारा दिन वो गाता फिरा शाम तक गाया उसने रात आई हो गया सवेरे जब वो उठा किसान उसको हाजत लगी बड़ा दुखी तीन सौ का घाटा होने जा रहा है मैं तेरे पिथौरों के ज्ञान का क्या करें उस लोगों को बता क्या पैसा सामान लगा दीजिएगा और जो पचास नहीं आज अगर वो तीन सौ रुपये का घाटा बचाएगा तो सर जाएगा मर जाएगा और यही शाम सब मर जाते हैं और कुछ भी नहीं पाते साधना और तप वही है जो हजम हो जाए मेरे शरीर का अंग बन जाए ना कि खाली दिखावा बन जाए उस किसान की तरह मत करो मुझे इतने श्लोक याद है मैं इतनी कथाएं जानता है जानती हूं अरे तुम कुछ नहीं जानते ये बताओ उसमें पचास कितना है तुम्हारे आचरण में कितना उतर पाया तुम्हें कितना जानता है उस किसान की तरह पेट बचाओगे घाटा बचाओगे तो जीवन सड़ जाएगा एक बहुत बड़े गाने थे महादान हर एक को भोजन कराना उनकी सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना और हर थी बड़ा भारी सम्मान था एक रोज सबको आने वालों को खाना खिला रहे थे जीवों को भी खिलाते थे तो दो बड़े भारी पक्षी उतर के आ गए धरती बड़े थके से थे उस दानी ने कहा देवता बहुत दूर से आ रहे हैं तो बोले हाँ हम हाँ, बड़ी दूर से उड़ते हुए चले आ रहे हैं बोले थक भी गए थोड़ा विश्राम कर लें और जब इतने दिनों से आप उड़ते रहे हैं तो आपने कुछ प्रसाद भी तो ले पाया होगा आज आप मुझे बात करें बोले ठीक है जो कुछ देगा वही पा लेंगे इसलिए देवों विशाल का चिड़ियों को भोजन खिलाया वे बहुत प्रसन्न हुए थोड़े विश्राम के बाद जब जाने लगे उसने कहा कि देवता आप कहा जा रहे हैं हम आप पूछ वे धर्मात्मा हमारी बड़ी लंबी उड़ान है हमें बहुत बहुत दूर जाना तो अगर आप आज्ञा करो तो रास्ते के लिए दो गठरियां बना दो बोले बोले नहीं अगर तुमने वो गठरिया हमको दे दी तो हम वो कहा पाएंगे और इसीलिए तुम सब भक्ति नहीं कर पाते उड़ नहीं पाते वही डूब जाते हाय गठरिया कैसे करें भक्ति भक्ति के निराकाश में उड़ने की बात है कल की तुम न जाने आज की तो उड़ान भर के जो होगा वो जाने वो देखा जाएगा उन्हें ही राजा वर्णश्च का सूर्य हमें तो सूरज की राह जाना है हमें तो ऐसे ही उड़ना है ऐसे ही जाना है तो कहा अरे भाई अगर गठड़िया ले ली रास्ते के भोजन पात के लिए तो हम उड़ जा पाएंगे ये गठड़िया हमको नहीं रखेंगे तुम सोचते हो कि तुमने माया को बांधा है ना तुम बंधे हो गाय को तुमने खूटे से बांध रखा है क्या गाय बंधी है थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि गाय ने झटका दिया खूंटा उखड़ गया गाय जंगली समेत बाजी खेतों में जाके करने लगती एक शैतान लड़के ने देखा कि गाय के साथ मालिक नहीं है उसने आगे बढ़कर के उतार ली और लेके चला गया एक बात बताओ क्या गाय दुखी होगी क्या एकदम रोड गई बोलो दुखी तो तुम होगा ना हाँ तुम्हारे पचास रुपए की देंगे चले गए तो जंजीर के साथ गाय बंधी थी या तू बना थी कौन दुखी बढ़ते हो माया से और उड़ना चाहते हो भक्ति के आकाश में और अपनी हर गंदगी को अपनी उपलब्धि बताते हो भक्ति हमें प्राणी मात्र से जोड़ती आसक्ति घर में भी लड़ाई कराती है जब आपने अपने घर जाती मुझे बताओ भक्ति है क्या भक्ति अति दुर्लभ है तो कहा राजन उसी भक्ति का रूप देने के लिए महाविष्णु लीला अवतार धारण करते हैं जब धरती माता रोई तो भगवान ने कहा कि वे प्रकट होंगे महाराज उग्र समय सुन रहा था वसुदेव जी उनके संबंधी हैं वो भी उन्हीं के साथ हैं उनके सहयोगी हैं और भी बहुत से राजा मथुरा के साम्राज्य के साथ जुड़े हुए हैं और ये सूर्य नायक नगरी है जहाँ राजा स्वयं को जनता का सेवक मानता है वैसे भी राजभवन ज्योति होता है तो राजा शब्द का दूसरा गाइड ही होता है जो राह दिखाए जो रोशनी दिखाए ये शासक और प्रशासक वाली बात नहीं होती वो असुर धर्म है अधिकार है जहां पर असुरत्व है वहां पर जहां मिटने की बात है गोविंद राजदेव साक्षात दिखेगा क्योंकि वो त्याग में मिलता है वो वराग में मिलता है वो समर्पण में मिलता है वो दम में नहीं मिलता है और तब भी उसे कभी जान भी नहीं सकता <coughs> तो कहो राजा जब कहीं से लौटे जरा संत की हंसी का काम पहले कर चुके हैं वैसे आगे चलते हैं अपनी दोनों पत्नियों को अस्थि और प्राप्ति को लेकर और मथुरा पधारे उनके साथ असुरों की सेना भी दहेज में आई मायावी असुरों सारी मथुरा नगरी सजी थी उनका युवराज लौट रहा लेकिन जैसे ही उसका रूप देखा कहते हैं ना फेस इज इंडेक्स चेहरा बता देता है सारी कहानी मेरी सबके चेहरे मुरझा गए अरे जिस भले युवराज को हमने भेजा था संग दोष के कारण वो तो असुर बन गया और आपने संग दोष की परवाह नहीं की सुबह शाम की छोटी सी भक्ति और सारा दिन विषयों का संग दोष बताओ तुम कंस बनते कि कृष्ण की आप आते दुनिया को दोष देने वाले कभी अपने भी खोए पूछा है सब इसमें दोष देखने की मैं वृत्ति ही अब मैंने बड़ा दोष है और जब व्यवसायों के दोष देखते रहे तो मैं भी तुम्हें देख ही नहीं पाया और जब देखा ही नहीं तो मैं नाचता कैसे धोता कैसे मैं सुधरता कैसे तो कहा लौटते हुए असु साम्राज्य की हुई गौरवृत्ति करने शुरू कर दी किसी की इज्जत किसी का सम्मान बाकी ना रहा सारी प्रजा त्राही त्राही कर उठेगी मथुरा की देवियों का गलियों में निकलना भी तो बढ़ गया इसे पाए उठा लेता है असुर जो है आपको पता है आपके यहाँ सुंदर प्रथाएं थी जब तक कन्या समझदार नहीं होगी आप उसका विवाह कैसे करेंगे और 25 साल से पहले बिल्कुल से बालक लौटता नहीं था यहां पर 25 साल का अनिवार्य ब्रह्मचर्य आपके यहां लिखा हुआ है और जब तक लड़की सहनी नहीं होगी स्वयं पति का चयन कैसे करेगी तो आपके यहां क्या बाल विवाह हो सकते थे लेकिन जब असुर आप ने आपको गुलाम बनाया और आपकी बहन बेटियों से हरम सजाने लगे तो भया क्रांत इस संस्कृति को बाल विवाह का सहारा लेना पड़ा था आज वैसे ही कुछ पीड़ा मथुरा में भी है कंस जो तो आ गया है महाराज गोसाई देखते भी हैं तो अनदेखा कर देते हैं बेटा जो है हाँ? हाँ। मेरा बेटा जो करे वो ठीक है हाँ? एक ही रात में पच्चीस लाख खर्च है सही है दूसरे का करे तो मैं जानू और हर बाप अपने बेटे के गुनाह रखता है लेकिन बेचारे महाराज उग्रसेन कुछ थोड़ी सी दया दिखा रहे हैं वो भी, भी बेटा है ना कैसे बोले अभी आया है संग देश छूट जाएगा सुधर जाएगा दो दिन और देखो चार दिन और देखो और वो है कि उसका उत्पाद बढ़ता ही जा रहा है जब सारे देशपतियों ने मंत्रियों से ने कहा कि महाराज हम मथुरा छोड़ के जाना चाहते हैं तो महाराज उग्रसेन के लिए ये बात बहुत भारी पड़ गई किसी महाराज सारे वैभव को खो दे एक कंस की खातिर महाराज भी टूट गए उन्होंने सबसे बात करी कि भाई कंस से सामना करना तो संभव नहीं है समझाने के सारे साधन हो चुके वो मानता है कुल एक भतीजी है जिसका नाम देवकी है ये कंस की तस्वीर है उनका कंस इसके देवकी की शादी करते हैं और इसका जो बेटा होगा हम उसको उत्तराधिकारी घोषित करके और कंस को उत्तराधिकार से ही समाप्त कर देंगे लेकिन जब तक उत्तराधिकारी ना आए हम सबको मौन रहना होगा <laughs> ये महाराज उग्रसेन ने अपने अपने सूर्यों के साथ बात की लेकिन वो तो भूल गए कि वहाँ मायावी असुर कंस के लिए क्योंकि जब सत्ता भ्रष्ट होती है तो कपटी लोलित लालची चाटुकार लोग भी खाते सत्ता के साथ चिपक जाया करते हैं और वो मौतों की तलाश में रहते हैं महाराज उग्रसेन ने यदि नंदन महाराज यदि के संतान हैं वसुदेव जी उनसे देवकी के विवाह का प्रस्ताव किया वे मान गए बड़े धूमधाम से विवाह की तैयारी होती है काश स्वयं उस विवाह में दौड़ दौड़ के सारे काम करता है क्योंकि देवकी छोटी बहनों से प्राणों से अधिक प्रिय है आपको तो आपके घर में भी तो भाई बहन बहुत प्यार करते हैं और फिर अचानक एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो जाते क्या बोलो बोलो जिन बेटे के बाप बड़े सोने से लगा रहा है मुकदमे वाली में क्यों फंसा बैठा हाँ बताओ ये बेटा और फंस वाली तो नहीं आता ही नहीं और फिर भी कहते हो कि तुम सही हो और सुधरना नहीं चाहते मुझे भक्ति लोग नहीं कर रहे थे तो कुछ पुण्य मिल जाएगा ईश्वर के होने की भाव नहीं है उसके जैसा दिखने की भाव नहीं है उसी में डूबने की बात नहीं है उसे कुछ पाने की बात क्या इसको भक्ति कही गया भक्त तो अपना सब कुछ न्यूछावर कर उन्हें मिल जाना चाहता है मिट जाना चाहता है न कि कुछ पाना चाहता है आसक्त पाना चाहता है तो आसक्ति है कि भक्ति है सोचो विचार करो बोले तो दिन मांगे लेता है लेकिन टिकट फिर भी मांगता है तो आसक्त है कि भक्त है जब विवाह हो चुका है स्वयं कंस ही रथ पर बिठा करके वसुदेव और देवकी को उनके साम्राज्य में ले जाना चाहता है वह रथ पे बैठ के चला तभी आकाशवाणी होती है दो तरह की कई तरह की कथाएं हैं हरि आनंद हरि कथा अनंता लीला कथा में आकाशवाणी होती है इसी का पुत्र आत्मा बेटा तेरा वध करेगा हाँ? तेरा विनाश करेगा तेरे पापों का अंत होगा देख यदि कसमें सताश भक्ति भी शेष होती है और वो आकाशवाणी में सुनता कि स्वयं परमेश्वर प्रकट होंगे और तेरा अंत करेंगे अगर भक्ति की एक जरा सी किरच भी होती तो क्या वो वसुदेव देव जी को जेल में डालता वो पहले अपने आप को उस कपट की जेल से बाहर करता है जिसके कारण स्वयं परमेश्वर को आना पड़ रहा है वो अपने भीतर खोजता लेकिन कोई भी आशक व्यक्ति जो भक्त नहीं है वो अपने मैल नहीं देखेगा दुनिया की जाएगा बदले पे उतर आएगा तो नारायण आपको आना पड़े प्रभु जरा सी तिरस भक्ति की होती भी नहीं उसने सुना स्वर्ण नारायण इसके आठवीं संतान के रूप में प्रकट होंगे और उनके द्वारा मेरी मृत्यु होगी तो उसने तो बालों से पकड़ करके और देवजी को रथ से नीचे जमीन से पटक दिया और तलवार लेकर उसका सर काट दिया और क्या हम सब यही नहीं करते मत कहो कि तुम कथा सुनते हो क्योंकि जो कथा सुनते हैं वो कथा जीते भी जीते क्यों नहीं है मैं बड़े सत्संग करती हूँ स्वामी जी इस तीरथ पे हुए वहां हुए क्या कथा जीती के लिए ये कथाएं जीने के लिए है खाली सुनने भजने और गाने के लिए नहीं पूछो कि तुम भी तो ऐसे ही पढ़ते बदला लेने उतर आते ये नहीं कि अगर किसी ने कुछ कहा है चलो थोड़ा और मांस डालें थोड़ा और बन जाए हो सकता है लग रहा है कि इसने बहुत अनर्गल बात कही है हो सकता है ईश्वर ही इसकी वाणी में बोल गया भाई तू सावधान हो जा थोड़ा और पक ले हाँ? तो घर में आई जन्म शुरू हो जाएगी नहीं क्या हाँ, बाहर की तो बात ही छोड़ क्योंकि मेरे भीतर कंस है भक्ति नहीं भक्ति होती तो बड़ी विनम्रता से हम पूछते अपने से चाहे जो कौन है नहीं भी हो तो, तो दूसरे पर दुखित है चलो आज और धो डालते हैं अगर मेरे आचरण में मेरे दिखावे में कोई दोष है तो चलो इसको और मान चुके मतलब वहां आजकल टीवी सीरियल में देखता हूं ना कभी कभी मेरी भी निगाह पड़ जाती बोले पापा आप मेरे पे शक कर रहे हो प्रोटेस्ट हो रहा है मैं बोल रहा है इसमें आप तो हर पीढ़ी में कर्ज बोलता हूं हाँ? हर घर में भी डाला चल ये नहीं सोचते कि जिस आचरण के कारण आप माले में बुरे दिखे हो उस आचरण को क्यों नहीं मार डालते हो दोस्तों के साथ उल्लेख क्यों ना क्योंकि तो हम कंस हैं हम उस नति के योग के लिए नहीं और हम दूसरों को उपदेश देने मानते हैं अपने को धर्म को राजी नहीं दूसरे में कोई राजी नहीं हो रहा है और ये दरदर में हो रहा है सनातन विष्णु सनातन और भी इकट्ठे बैठे हैं जन्म जाते हैं लड़कों के साथ जाकर के भारी हाथ सो भी जाते हैं कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है मैंने ऐसे जानवर आते हैं वो भी लगा करके इकट्ठे रहते हैं सबके साथ तुम्हारे घर में तुम्हारे सगे जैसे फेरे फिरवा के लाए हो उनके साथ भी बंद रही है क्या लेकिन मेरे को भी कथा सुना जाते हो ना इसलिए मैं भी जान लेता हूँ भगवत बात मालूम क्या बताते करो ना ठीक खुद तो बहुत अच्छा मुझे भी रास्ता दिखाना है लगता है साहब बहुत लड़ा गए रिश्तेदार हैं तो भी प्यार से बैठे हैं और तुम्हारे देश कितने गए हैं कि सगे बस रहे दूसरे Mm-hmm. कृष्ण जीता है कि कृष्ण जीता है भागने दौड़ा वसुदेव बढ़ा था मैं कि कृष्ण जीता कर रहे अभी किसी गलत की मेहनत ही नहीं छूटी है प्यार की महावत नहीं सोचे इस मासूम को क्यों वाली है अरे आकाशवाणी में यही तो कहा ना इसका आठवां बेटा तेरा वध करेगा मैं इसका आठवां बेटा तुझे छूटूंगा उससे बढ़ जाएगी क्योंकि वो स्वयं मारने आ रहे हैं अपने को सुधारने को नहीं सोचता है इस मासूम को मारने की सोचता है बोला तेरे को भी मार दोनों को खत्म कर दिया और पास तोड़ गया और सारे असुर उसे घेरे पड़े जिन्होंने उसको बताया था कि महाराज उग्रसेन की योजना है असली बात तो कुछ वो भी थी उसने कहा महाराज उग्रसेन की योजना है तो मैं ये योजना का मूल ही उड़ा देता हूँ मैं रहेगा बांस અને મજૂરી બાજુ वसुदेव ने रहा तो कंस ने कहा असुरों ने भी उसको उसके सहयोगी थे उन्होंने समझाया कि जल्दी मत कर महाराज उग्रसेन से कहो कि वो यहाँ आकर के घोषणा करें कि तू युवराज रहेगा और वो लोग के आए जवानों ने सुना महाराज ने ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है मथुरा के बाहर ही पांडव शुरू हो गया <coughs> जब उन्होंने कंस की बात सुनी तो घबराहट में वो चले आए कहते कि अकेले है ना अकेले है ना चले आए और आते ही अश्वराय को घेर लिया और कहा अब यही अभी युवराज घोषित करो तो वो तो उन्हीं के साथ बंदी गिरेगा जाना और षड्यंत्र करके कंस ने महाराज उग्रसेन को वसुदेव को और जी को जेल में बंद कर दिया यहाँ पर आठवें बेटे को मैं मारूंगा तो नारा जी ने आकर के बोले लकीरें खींच के दिखा दें तो पापी तेरा पाप बढ़े तेरा खड़ा बढ़े तभी तो फूटे आप अक्सर समझते हो कि आपने गलत काम किया झूठ बोला नाटक किया और आपके साथ कोई बुरा नहीं हुआ है तो आपको लगा साहस मिल गया नहीं गला भरने की बात है फिर फूटेगा कहती तो है और कमजोर छोटे छोटे कदम आगे बढ़ते हैं और फिर धना जब टूटता है तो उसका फिर कोई निराकरण नहीं हो सकता है तो महाराज जी चले गए हाँ, कहने लगे कि आठवें बेटे को ही तो मारना है तो वसुदेव से मैंने कह दिया है कि आठवाई लेना तो उन्होंने बोला खींच के आठ लकीरें खींच के कहा गोले में घूम के बताओ कौन सी पहली है कौन सी आठवीं तुम जानते नहीं हो महाविष्णु तो कहा सारी मारी वसुदेव और देव की जेल में बन जाए ये मेरी कहानी भगवान की लीला कथाएं हैं पहले ज्ञान की लीला कथाएं हैं ये फिर वैराग्य की कथाएं हैं और तब भक्ति रस की रास लीला है जिनके पास ज्ञान और वैराग्य नहीं है उस लीला को नहीं जान सकते जो भक्ति लीला है क्योंकि विषांत व्यक्ति विषयों में ही लीला देखेगा तापस तप में देखेगा योगी योग में देखेगा तब तक कपट में लीला देखेगा जिसका राजा राजा वही जागे हैं वो प्रभु की लीला का दर्शनार्थी भी नहीं हो सकता वो तो अपने ही पास देखना है ये समझने वाली बात है ला करते और उसने सब कुछ में बंद किया सारे मथुरा हाहाकार उठी है इस आतताई का घड़ा है कि भरता ही है महाराज उग्रसेन के जेल जाते ही मथुरा वासियों ने असमय ही वाना प्रस्थान धारण कर लिया है सब भूमि स्नान करने लगे हैं अरे तपस्वी का सजीवन जीने लगे हैं मथुरा के सारे श्रृंगार उतर गए हैं मथुरा दिया से नजर आती और कंस के पाप का भाग करता जाएगा चारों ओर कंस ने हाहाकार फैला दिया है कर व्यवस्थाओं को बढ़ाता चला जा रहा है जैसे हमने राम श्री राम के काल में रावण के अनाचार को देखा कि ऋषियों ने कहा कि हम तो तप करते हैं धन उगाते नहीं तो हम कर कहाँ से लेंगे तो बोला खून दोगे और आज हम कहते हैं कि हमने रावण स्वामी जी त्रेता युग नहीं हुआ था लेकिन आज आप ही का अपना पूर्वज हो घर का बड़ा हो अगर वो अपाहिज हो जाए तो आप उसके साथ क्या व्यवहार करते हो उस वक्त आप राम होते हो कि रावण कभी सोचा एक वो लोग था कि जब आप चींटियों को भी आटा डालते थे गायों और कुत्तों को पहले खिला के आते थे तब कहते थे हमारी थाली लगा और आज तो शायद आप अगर वो भी बिकती हो तो पकड़ के चीटियाँ भी बेच डाल ऐसा कमा और चारा तो खाई जाती है लालू यादव बन क्या ही छोड़ा और फिर भी कहते हो कि स्वामी जी हम सत्संग करने आए मैं पूछो फिर कुसंग कैसे कर लेती है फिर मैं हो रहा क्यों नहीं तेरे स्वभाव में क्यों भक्ति है तो सबके लिए बरस क्यों नहीं रहा मुझे तो सबकी न्यौछावर होती पीना कारण इस घर में रहना नहीं है वो घर चाहिए है उस घर की खातिर भी कुछ नहीं अरे इस घर से बेघर हो जब कोई घर न पाएगा तो कहा जाएगा पिछाच ही नहीं तो मनुष्य यही की सारी कमाई उसकी शादी होनी तो है तभी सोचा रस ने सबको जेल में बंद कर दिया और सारी मथुरा संता चारों ओर त्राही त्राही हर कोई गरीब है और सच पूछो आज भी हर घर में त्राही त्राही है तुम्हारे मैं अपने रिश्ते में भी कई सवाल है गोपाल की बात भक्ति की नहीं है तो कौन सा भोजन जाती है तुम्हें 모든 의원은 지휘자고